तो अर्थापत्ति प्रमाण तो उपपाद्य ज्ञान न उपपाद ज्ञान कल्पनम अर्थापत्ति यह अर्थापत्ति प्रमाण का स्वरूप है उपपादयितुम योग्यम उपपाद्यम माने कार्य उपपादक माने कारण जहाँ पर यत्र कार्येण कारणम कल्पते तत् शेषवत कोई अभी कहेंगे अभीत कहेंगे और शेषवत कहेंगे अतः यहाँ कार्य के द्वारा कारण की कल्पना की जाती है एतावता अर्थापत्ति प्रमाण का इसमें अंतर्भाव हो जाएगा जो अभीत है जो शेषवत है उसमें इसका अंतर्भाव हो जाएगा इसलिए अन्य दार्शनिक क्या करते हैं इसको माने अर्थापत्ति प्रमाण को सांख्य लोग स्वतंत्र नहीं मानते जो लोग अनुमान को त्रिविध मानते हैं उनके लिए अर्थापत्ति प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है जो लोग अनुमान को एक रूप मानते हैं उनके लिए अर्थापत्ति प्रमाण आवश्यक होता है वह अतः उस अर्थापत्ति के दो अर्थ भी देंगे एक दृष्टार्थापत्ति एक श्रुतार्थापत्ति पुनः अभिधानानुपत्ति अन्विता विधान अभिहितान्वय विधान ऐसा करके भेद करते जाते हैं यहाँ सर्वप्रथम यह जो अर्थापत्ति शब्द का हम कल बताए थे दो अर्थ होता है एक अर्थ से आपत्ति अर्थापत्ति या प्रमा का बोधक है आपत्ति माने कल्पना संपादन करना प्रतिपादन करना अर्थ का तो उन्होंने कहा था अर्थ से आपत्ति मन अर्थ का जिससे आपादन आपत्ति बोध बोध है जो उसका नाम है अर्थापत्ति यह प्रमा का वाचक है और अर्थ से आपत्ति प्रतिपादनम यस्मात इति अर्थापत्ति इति बहुबरी ही समाप्त कर देंगे तो प्रमाण का वाचक हो जाएगा मान उपपाद किसका वाचक होगा जा प्रमाण का तो या एक प्रमाण का वाचक क्या हो जाएगा कौन विग्रह करेंगे बहुबरी ही करने पर प्रमाण का वाचक है ष्ठी तत्पुरुष करने पर प्रमा का वाचक है इसने दृष्टांत दिया था इस एक ही प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग विषय के लिए प्रयोग होता है इंद्री के लिए प्रयोग होता है और प्रमाणिक ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम इंद्रियम प्रत्यक्ष विषया तदवत या अर्थापत्ति दोनों के लिए प्रयोग होता है ये कहते हैं अर्थापत्ति कोई अनुमान से अतिरिक्त नहीं है जैसे पीछे उन्होंने कहा उपमान अनुमान अथवा कहीं शब्द के अंतर्गत है कहीं वह अनुमान के अंतर्गत है वह क्या नहीं है स्वतंत्र प्रमाण नहीं है उसी का निराकरण करने जा रहे हैं एवं अर्थापत्तिरपिना प्रमाणांतरम अन्य प्रमाणम प्रमाणांतरम या प्रमाणांतर नहीं है क्यों तो यहाँ पर दो प्रकार की जो है दृष्टार्थानुपत्ति श्रुतार्थापत्ति सुतार्थार्थापत्ति तो दृष्टार्थापत्ति का दृष्टांत है पीनो यम देवदत्ता जीवान भुंगते रात्रि भोजनम कल्पते दृष्टार्थापत्ति है और इसे इदम रजतम ये भी क्या दृष्टार्थापत्ति है कि सामने रजत दिख रही रजतत्व अनुपत्या किं कल्पते तत्र रजत का उत्पादक कोई न कोई अवयव ऐसा माना जाता है इसलिए कहते हैं रजत अनुपत्या उसी प्रकार सुताता तर शोकम आत्मवीत यह श्रुति क्या कर संपूर्ण प्रपंच को बिना मिथ्यात्व किए क्या नहीं हो सकता शोक से निवृत्ति नहीं होती है श्रुतार्थापत्ति का दृष्टांत है यहाँ पर प्रसिद्ध जो लोक में दृष्टार्थानुपत्ति का दृष्टांत कौन है तो तीनों यम देवदत्ता दीवाना भूंगते मान जो यम देवदत्ता है अत्यंत स्थूलकाय देखा जा रहा है बिना भोजन की व स्थूलता संभव नहीं है तो दृष्ट से अर्थ से अनुपत्ति दृष्टार्थानुपत्ति किसी का लड़का गांव घर से भग गया घर में तो ज्योतिष शास्त्र ने कहा लड़का जीवित है ये उसने ज्योतिषज्ञ ने दैवज्ञ ने कहा इसका मतलब है घर में नहीं है तो कहीं बाहर कहीं ना कहीं होगा क्योंकि जीवित है तो निश्चित कहीं ना कहीं होगा तो गृह सत्वम बहिर्सत्वम कल्पते यदि जीवित है तो यदि दूसरी कह रहा जीवित है गृहा सत्वम वही सत्वम कल्पते इसके द्वारा ये कौन सी वो श्रुतार्था पत्ति है जो दैवज्ञ के द्वारा सुना गया वह अर्थ अनुपन्न होकर के उस बालक के गृह में असत्व को बताते हुए बहिर सत्वम अस्थि गृह नास्ति एतावता कहीं ना कहीं संसार में है क्योंकि जीवित है उसका कुंडली देखकर बताता है उसी पर उसी दृष्टांत को यहाँ पहले सुरतार्था पत्ती का ही यहाँ दृष्टांत देने जा रहे हैं क्या दे रहे हैं वही तथा जीवित चैत्र भाव दर्शन मन चैत्र जीवित है और घर में नहीं है घर में क्या हुआ उसका अभाव का दर्शन हुआ एतावरता बहिर्भाव तस्य अदृष्ट कल्पनम अर्थापत्तिर अभिमता वृद्धानाम आचार्याणाम मीमांसकादीनाम व अभिमता सापी अर्थापत्ति अनुमान अनुमान में वह क्या चीज है अर्थापत्ति अनुमान ही है वो किसी ने कहा शास्त्र में लिखा है कि सौ वर्ष वो जिएगा लिख दिया कुंडली में दैवज्ञ ने और घर से लड़का भग गया तो कुंडली में देख क्या बताएगा सौ वर्ष जीवित सौ वर्ष तो हुआ नहीं है इसका मतलब कहाँ है कहीं ना कहीं बाहर है वही कहना जीविता चैत्र गृहाभाव दर्शन गृह में उसके असत्व का दर्शन हुआ दैवज्ञ वाक्य के द्वारा जो दैवज्ञ क्या बोलते हैं ज्योतिषी को ज्योतिषी जो ज्योतिष शास्त्र का वेता है उसको संस्कृत में बोलते हैं दैवज्ञ दैवम जानाती थी दैवज्ञ जो दैव देव के तो मैंने विधान को जानता है तो उसे गणित के माध्यम से उसे बता देता क्या क्या है इसलिए दैवज्ञ के वाक्य से सुनकर चैत्र को घर में आ देखा कि घर में अदर माने अदर्शन वही भाव दर्शन घर में नहीं देखा एतावता बहिर भाव से कल्पना रूपाया अर्थापत्ति बहिर भावन सत्ता का जो कल्पना रूप जो अर्थापत्ति है वह कई स्वीकृता मीमांसा भाषकाराणाम अभिमता वृद्धा मतलब जो सबर स्वामी है मीमांसा के उन सबने स्वीकार बहुवचन दिया है इन और वहीं का यह वाक्य है इसीलिए तो उन्होंने कहा जो वृद्धा नाम माने जो वृद्ध है कौन स्वामी प्रभृति नाम मीमांसका नाम सा अर्थापत्रिजाभिमता सा अनुमान में लेकिन उद्देश्य विधेयो रेकमापादयत सर्वनाम तत्लिंग भाग भवती तयदि तो तद अनुमान में व तथापि सा सामान्य अर्थापत्ति इस उद्देश्य के लिंग को पकड़ करके स्त्रीलिंग का दिया सा ये भी सही है सा अर्था अनुमान में व साप्य अनुमान में अर्थात तदपि अनुमान में दोनों वाक्य क्या है शुद्ध है अतः यहाँ पर उनका जो अर्थापत्ति है अतः प्रामाण्य वही कहने जा रहे हैं इसलिए इसने यहाँ पर क्या किया जाए तो कौन सा वो श्रुतार्थापत्ति कौन सी हुई अर्थापत्ति और दृष्टार्थापत्ति कौन बताया दृष्टा मंत्र ने वही पीनो दिवा न भूंगते जैसे पीनो यम देव दत्ता दिवा न भूंगते ये दृष्टार्थापत्ति के लक्षण से लक्षित है जो दृष्ट से जो हमारे चक्षुर इंद्री से जो ग्राह्य हो रहा है वो क्या अनुपन्न हो रहा है स्थूलता बिना किसके बिना भोजनम बिना अनुपन्नम तस्मात्र रात्रि भोजनम कल्पते रात्रि भोजन कल्पना की जाती है कौन सी आपत्ति के लक्षण है दृष्टार्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति का यही है जीविता चैत्र दर्शन बहिर्भावस्य अदृष्टस्य कल्पना कल्पनम अर्थापत्ति इति अभिमता वही कह दिया दृष्टार्थापत्ति यदा खलु अब घटाने जा रहा है कैसे क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमारा कौन है जीवित होते हुए बाहर है अब इन्होंने कहा कि देवदत्त जदा देव किल ग्रामाद जीवन अस्ति उसी प्रकार ये उदृष्ट यदा खलु सन्नीव एकत्र नास्ति मन उसी का व्याप्ति बनाने जा रहे हैं इन्होंने कहा अनुमान प्रमाण है कैसे अनुमान अनुमान प्रमाण किसी अनुमान कैसे कहते हैं व्याप्ति ज्ञानम तो पहले व्याप्ति ग्रह कैसे होगा तो वही व्याप्ति ग्रह बताने जा रहे हैं व्याप्ति ग्रह दो प्रकार से होता है अन्वय दृष्टांत के द्वारा वितरक दृष्टांत के द्वारा यथा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी यथा महानसम यह अन्वयी दृष्टांत हुआ और यत्र धूमो नास्ति तत्र नास्ति यथा जलम महाहृद ये कौन दृष्टांत हुआ वितरेकी दृष्टांत तो एक अन्वयी दृष्टांत है एक वितरेकी दृष्टांत है तो पहला ये दिखने जा रहे हैं क्या मन यदा खलु सत सन एकत्र मन सन है और एकत्र नुट का आगम हो गया क्या हो गया गमो रसाद गमण नृत्यम से सन एकत्र माने यदा जिता यदा किल मन जिस समय पर कोई देव दत्त मान लो घर में माने यदा वही कहने यदा खालू एकत्र नास्ती एता कुत्र अस्ति तदा अन्यत्र अस्ति मन एकत्र गृहे नास्ती कहा नहीं है कोई व्यक्ति माने जैसे चैत्र है घर में नहीं है तो अन्यत्र कुत्र अस्ति बहिर्गृहाद कुत्र अस्ति क्योंकि वह जीवित होने के कारण मन चैत्रो बहिरस्ति कुता जीवन वत्वे सती सत्वाद अहमी एक दृष्टांत ऐसा अनुमान का आकार बनाते हैं क्या अनुमान का आकार चैत्रो बहिरस्ति यह हुआ चैत्र में बहिर अस्तित्व को सिद्ध करना है हेतु कौन हुआ जीवन जीवनवत्पे सती गृहा सत्वात अहम इव जैसे मैं क्या हूँ घर में न कहकर बाहर हूँ फिर भी क्या हूँ हूँ उसी प्रकार क्या है घर में न रहकर वो भी घर में नहीं है ये तो कहाँ है बाहर है तो वही अस्तित्व मैंने चैत्रा हो गया पक्ष बहिर अस्तित्व ये हो गया साध्य और जीवन बत्पे सती गृहा सत्वात ये हेतु हो गया और अहम ये दृष्टांत तो हो गया क्योंकि जीवत इसलिए लगाना है कि मर्दा भी तो होता है उसमें लक्षण ना चला जाए इसलिए जीवन बत्ते सती गृहा सत्वम यथा यदा जीवतो गृहा सत्वम मान काल दो प्रकार की व्याप्ति है कालिक व्याप्ति होती है दैसिक इसे यत्र यत्र कहेंगे तो इस व्याप्ति को बोलते हैं दैशिक व्याप्ति और यदा यदा कहेंगे तो कालिक व्याप्ति मान यदा यदा किमस्ति यदा यदा तो गृह सत्वम तदा तदा बही सत्वम ये कौन व्याप्ति हुई मन देश वाली भी यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र बन्नी मान जिस जिस देश में धुआं है उस उस देश में बन्नी है ये कौन सा हुई दैशिक व्याप्ति और एक हुआ यदा यदा अहम तत्र गच्छामी तदा तदा अपरोपी गच्छति तो यह कालिक व्याप्ति है मान एक ही काल में दोनों जाते हैं उसी प्रकार यहाँ पर कौन सी व्याप्ति है यदा यदा जीवतो गृहा सत्वम तदा तदा वही सत्वम कौन व्याप्ति हुई अन्वय व्याप्ति और यदा यदा तो वही सत्वा सत्वम तदा जीव तो गृह सत्व उलट दो और जिस समय पर बाहर नहीं है तो कहाँ है फिर वो जीवित है तो घर में है यत्र तो धूमा यथा मानसम वही कहने जा गृह सत्वम तो पहला यदा जीव तो गृह सत्वम तदा वही सत्वम जन्म व्याप्ति हुई और उसका उल्टा वितरक व्याप्ति का हो जाएगा यदा ही बही सत्वा सत्व बहिर नहीं है तदा जीवतो गृह सत्व यह व्यतिरिक व्याप्ति इन दोनों व्याप्ति प्रकारों को दिखाने के लिए यह प्रयोग कर यदा खलु सन, सन माने विद्यमान एकत्र नास्ति वो दूसरे वाले का है वो अन्वय व्याप्ति वितरेक का है पहला वाला अन्वयी वाला का है अन्वयी वाला यहाँ तक है सन एकत्र नास्ति तदा अन्यत्र अस्ति ये कौन सा हुई इतना अन्वय वाले का इसलिए एक प्रयोग क्रिया सन माने होता है विद्यमान माने जीवित रहते ही हुए इसीलिए कह रहा है विद्यमान माने जीवन मत शरीरों यदा एकत्र देश हुआ एकत्र माने एक देश गृह घर में नास्ती तदा अन्यत्र अन्यत्र बहिर देशे अस्ति वही कहना यस्मिन काले विद्यमान मान जीवमान चैत्र एकत्र गृह नास्ति मन असत्वम अस्ति तरी तदा कुत्र अस्ति बहिर्देशे अन्यत्र माने बहिर्देशे अस्ति अदा उन्होंने कहा सन शब्द का प्रयोग इसलिए किया है एकत्र कोई मर गया तब कैसे होगा इसलिए कह रहा सन माने विद्यमान होकर यदि एक जगह नहीं है तो अन्यत्र कहीं न कहीं होगा वितरेक व्याप्ति का उदाहरण यदा अव्यापक एकत्रास्ति तदा अन्यत्र नास्ती सुकर स्वशरीर व्याप्ति ग्रहम एक नियम है कि जब जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र व्याप्ति इसमें जो व्याप्य होता है वो पहले आता है और व्यापक वाला बाद में आता है किसमें अन्वय व्याप्ति में वितरिक व्याप्ति में क्या होता है व्यापक का भाव व्याप्य होता है और हेतु का भाव व्यापक होता उलट जाता है तो अर्थ क्या होगा यत्र यत्र बन्या भावा तत्र तत्र धूमा भावा तो व्यापक कौन हो गया धूमा भाव और वन्य भाव क्या हो गया व्यापक यद पद अभिलाप्यो व्याप्या तो यत्र यत्र बन्या भाव तत्र तत्र तो यहाँ कौन व्याप्य है बन्नी का भाव व्याप्य है धूमा भाव व्यापक है और यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी में कौन व्यापक है और वहाँ उनका भाव में उल्टा हो जाता है व्याप्य का व्याप्य का भाव व्यापक होता है और व्यापक का भाव व्याप्य होता है क्या होता है किसका भाव यहाँ एक सुंदर टीका एक श्लोक लिखा उसको याद कर ले उसी का यहाँ लेखा है नियम्यत्व भाव भावयोर यादृशी मते विपरीते प्रतीयते सत्ता एव यो हो इसका एकदम उसी का है ना पूरा यो हो क्या इस लोग है तो नियम्यत्व नियंत्रत्व याद सी मते एक नियम है एक नियंत्रित है तो या हमारा निय, निय, कौन धूम बननी का नियम करा जहाँ जहाँ धूमा बननी है इसीलिए उन्हें कहा एक नियम नियंत्रित्वी भाव यो के जो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र में जब मता है अतः विपरीते प्रतीयत जब उल्टा करना होगा ता एव तद अभाव यो उनका अभाव क्या हो जाएगा उलट जाएगा इत्युक्ति अन्वय व्याप्ति कौन लक्षण क्या होगा हमारा यद यदा किमस्ति यदा जीवतो गृह सत्व तदा बही सत्वम मदा यदा एकत्र गृह नास्ति तदा अन्यत्र अस्ति ये कौन सी व्याप्ति हुई हमारी अन्वय व्याप्ति वितरेक व्याप्ति कहने जा रहे हैं अब यहाँ क्या हुआ यत्र जीव, जीवी गृहा सत्वम व्याप्यम और वही सत्वम व्यापक उलट जाएगा पहला वाला जो था हमारा कौन था पहला वाला माना यह था यदा एकत्र नास्ति तदा अन्यत्र अस्ति अर्थात जीव तो गृहा सत्तम पहले था ये कौन दल हुआ व्याप्य दल और वही सत्तम व्यापक दल हुआ उलट दो पहले ला दो बही सत्वम और बाद में ला दो जीवितो गृह सत्वम क्या कर देना है वही उलट देना है इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि अन्वय व्याप्ति गृहा जीविता जीवी गृहा सत्व व्याप्यम बही चा व्यापकम इति की वही असत्व व्याप्यम गृह सत्व च व्यापकम अब उलट जाएगा अभी तक क्या था गृह सत्व व्यापक यत्र यत्र क्या लगाया था हम लोगों ने यत जीवतो यदा यदा जीवितो गृह सत्व तत्र तत्र तदा तदा बही सत्व तो बही सत्व व्यापक है और गृहा सत्व व्यापक है व्याप्य है अब लड़ दीजिए मैंने गृहा सत्व का एक अभाव और कर दीजिए गृहा सत्वा सत्व मैंने गृहा सत्व गृहा असत्व का अभाव मैंने गृहा सत्व हो गया और उधर क्या हुआ बही जो सत्व था बही सत्वा भाव तो उलट गया यत्र यत्र यदा यदा वही सत्वा भावा तदा तदा जीविता गृहा सत्वा भावा अर्थात गृहा सत्व गृह में रहना क्या उलट गया यदा यदा अन्वय व्याप्ति थी यदा यदा जीवी गृहा असत्व तदा तदा वही सत्व उलट जाएगी तो यदा यदा वही सत्वा भाव तदा तदा जीवित गृहासत्वाभाव अर्थात गृह जीव सत्वम जीवी सत्वम घर में रहेगा वही कहना यदा अव्यापक अव्यापक उलट जाएगा भी इसीलिए कहा यदा अव्यापक एकत्र अस्ति मन व्यापक का अभाव यदा एकत्र अस्ति तदा अन्यत्र नास्ति वो बाहर नहीं अब कहा जाएगा घर में आ जाएगा कहा जाएगा अब तो भाई घर में वही कह रहा है अदा तदा अन्यत्र नास्ती पहले उलट गया ना पहले अन्यत्र अस्ति था अब हुआ अन्यत्र नास्ति तो कुत्र अस्ति गृह अस्ति तो अन्यत्र नास्ति इतावत गृह अस्ति क्या दिया है उधर भी इन्होंने जो लिख दिया दोनों जगह पहले वाले में लिखा यदा खलु अव्यापका सन एकत्र नास्ति तदी अन्यत्र अस्ति और इधर माने अव्यापक माने व्याप्त हो गया यदा अव्यापका सन एकत्र नास्ति अन्यत्र अस्ति इसीलिए उन्होंने अव्यापक शब्द का प्रयोग किया माने व्याप्या सन एकत्र नास्ति तदी अन्यत्र अस्ति माने यदा गृह सत्वम नास्ति मान गृह सत्व अस्ति तदा अन्यत्र सत्वम अस्ति मन गृह सत्व मन गृह नास्ति मैंने जो घर में नहीं है तब कहाँ है बार है इसीलिए पहले इसीलिए पहला अब व्यापक था अब यहाँ भी उसी लगा दे रहा है तो ये लगाना नहीं होना चाहिए पहले वाला शायद खलु अब इसमें तो नहीं दिया पाठ इसमें क्या है नहीं दिया हाँ यही दिया है क्योंकि अदा आप व्यापक वहाँ भी लगा रहे हैं यहां भी लगा रहे हैं इसमें तो पार्ट नहीं है गलत तो यह नहीं होना चाहिए एक बार एक हमारे कई संस्कृत टीका रही पांच सात को मिले नहीं रही कहा पाठ बात देख लेते हैं आपकी कौन सी पुस्तक है लिखा यानी टिप्पणी में इससे कोई प्रयोजन नहीं इसलिए हम लोगों ने हटा दिया लिख दिया कि एक तात्पर्य टीका अनुरोध कहीं कहीं लिखा गया है परंतु इन्होंने कहा सर्वत्र इतना ही पाठा यदा खलु अव्यापका पाठा सर्वत्र उपलभमानोपि यद्यपि सर्वत्र मिल रहा है पाठ तात्पर्य अनुरोधात असंबद्धत्वाच का ऐसा कोई यहाँ प्रयोजन नहीं है ये लिए तात्पर्य टीका के अनुरोध हमने इस पाठ को क्या कर दिया मूल में हटा दिया है मैंने उसका कोई फल नहीं है इसीलिए कह दे रहा है हटा दिया है चलिए दोनों पाठ के मतलब यह पाठ ही प्रामाणिक हो गया इति तदा व्यापका एकत्र अस्ति अव्यापका एकत्र वही एक उलट देना है क्या कर देना भितर एक बात बहिर असत्वम व्याप्यम और गृह सत्व क्या हो जाएगा व्यापक हो जाएगा अतः वही योर दोनों संबंध कर दिया अतः वही कहने जा रहा गृह असित्व योजयती या व्याप्ति अतः शुकर यथा अहम शरीर के अहम शब्द का प्रयोग करना है अदा उन्होंने अनुमान क्या बनाया था चैत्रो बहिर अस्ति जीवन वत्व सती गृह सत्वाद अहम इव ये अनुमान हुआ क्या अनुमान हो गया मैंने चैत्रो मैंने जीवित अस्ति बहिर अस्ति चैत्र बहिर अस्ति क्यों जीवन वत्व सती गृह सत्वाद अहम इव मैंने जैसा मेरा शरीर हिलस्वा शरीर में व्याप्ति ग्रह कराना है क्या कराना है व्याप्ति ग्रह में दृष्टांत व्याप्ति ग्रह कहाँ होता है व्याप्ति ग्रह दृष्टांत दृष्ट माने व्याप्ति ग्रह उपादक वाक्यम दृष्टांत दृष्टांत किसे कहते हैं जहाँ पर व्याप्ति ग्रह किया जाता है तो यहाँ व्याप्ति ग्रह किसमें कहने जा अहम इव मैंने मेरे तरह मैंने अपने में कर रहा है वही कहना तथा चा दर्शन लिंग अभेद हमारा अनुमान के लिए क्या चाहिए लिंग चाहिए लिंग माने हेतु चाहिए तो यहाँ कौन सा लिंग हो गया ग्रिया भाव दर्शन मैंने सता मैंने विद्यमान है और घर में नहीं दिख रहा है इसका मतलब है वही है बहर उसके अस्तित्व की हम क्या करेंगे सिद्धि करेंगे तथा च व्याप्ति को प्रदर्शन करके अब समन्वय करने जा रहे हैं कहने जा रहे हैं सता माने जीविता चैत्र सता माने विद्यमान चैत्र गृहाभाव दर्शन गृहाभाव ज्ञान रूपेण गृह में अभाव का ज्ञान होने पर अभाव रूप लिंगेन किम भवत सती सति गृहा सत्वा जय हेतु बना जीवित सती गृह सत्वात उनके सता लिखा है विशेषण हो गया उसका सती तो जीवित सती गृह सत्वात मन गृह भाव दर्शन मन गृह सत्वात हेतु न बहिर्भाव दर्शनम बहिर्भाव दर्शनम अनुमानमेव माने अनुमान साध्यमेव बहिर्भाव दर्शन अनुमान माने अनुमान साध्यम तो अनुमान का आकार का चैत्र बहिर् अस्ति कुतः जीवनवत्वे सति गृहासत्वात् अहम इव तो यहाँ पक्ष कौन हुआ चैत्र साध कौन हुआ बहिर सत्व यदि था के यदि बोलो यदि है तो नहीं नहीं पूरा पंक्ति बोलो तुमको लिखाए हैं हम्म, आगे यदि तो, तो यहाँ आप बहिर असत तो सत का प्रयोग तो लगाना पड़ेगा वान नहीं है नहीं यहाँ पे तो है तो बहिर कहाँ वान है नहीं तो त्वा में जाए और लगेगा जब कुछ नहीं होगा जहाँ हाँ। तो यहाँ क्या हुआ चैत्रा बहिर अस्थि माने बहिर अस्तित्व क्या साध हो गया साध्यम हेतु क्या हुआ हाँ। जीवन बत्वे सती गृहा सत्व यह हेतु अब पक्ष कौन हुआ चैत्र जो प्राणी विशेष कोई भी हाँ, उदाहरण हुआ स्व शरीर इवा था अहम इवा मैं हो गया उदाहरण वही कहने जा रहा है तो अनुमान का आकार क्या हुआ सतः दर्शन लिंगेन सतः माने जीवमानस्य और ये विशेषण भाव दर्शन लिंग में इसने लक्षण मान जीवित सती भाव दर्शनात् पंचमी हो गई मैंने भाव मान गृह सत्वात बहिर्भाव दर्शनम सत्व किमस्ति अनुमान में अनुमान साध्य में अनुमान से वो सिद्ध होगा तस्मात अर्थापत्ति न प्रमाणांतरम अर्थापत्ति प्रमाणांतर नहीं है अब कह न चैत्र से क्वचित सत्य न तो किसी ने कहा भाई चैत्र कहीं है कहीं ना तो कहीं है अब शंका करने जा रहा है आपने यह दिया तो एक होता है पक्षे हित्व भाव अरे ये है आप बता तगन अरविंद सुर भी हाँ, हाँ तो यहाँ पर क्या है आश्रया है क्या ये माने गगन गगन में गगनार बिंदुत्व प्रसिद्ध है पक्षता छेद का प्रसिद्धि आश्रया सिद्धि पक्षे हित्व भावा स्वरूपा सिद्धि हम्म, अब बताओ सब क्या है शब्दों गुणा चाक्षुषत्वात तो चाक्षुषत्व शब्द में रहेगा नहीं रहेगा वो तो ग्राही है यही हुआ तो रूपा सिद्धि उसी को आशंका करने जा रहे हैं कि यहाँ आपने जो साध्या सिद्धिम बारई तुम नाचा से संदेह करने जा रहा है पहले उन्होंने लिखा स्वपक्षता धर्मताम दरसई तुम उन्हें पक्ष में के हेतु रहना पक्ष धर्मता कहते हैं और पक्ष में हेतु ना रहे तो पक्ष धर्मता नहीं कहलाएगा इसलिए ये कह रहे आशंका करने जा रहे हैं क्या नचा चैत्र से क्वचित सत्व कहीं कहीं ना कहीं चैत्र रहेगा गृहा भावा सक्यम अपनोतुम मने हटा नहीं सकते मन गृह के अभावाशक्यम अप नो तुम मने दूरी कर तुम अपने मने दूरी करना हटाना ये कहना चाह रहा है अतः यहाँ पर का चैत्र जिसे मान लो चैत्र है क्वचित सत्वीन मन चैत्र रूप पक्षी वर्तमान गृह भाव रूप हेतु चैत्र हुआ पक्ष उसमें क्या वर्तमान है गृहाभाव रूप हेतु ये लक्षण का जीवित्व सती गृहा सत्वात ज हेतु सा चैत्र से क्वचित सत्वीन अपनो तुम मन उपने तुम न सकनोती मन कहीं न कहीं पर चैत्र है या वो सिद्ध नहीं कर सकता है आपने कहा पक्ष कौन हुआ चैत्र साध्य क्या करना है बहिर सत्व तो ये कहता है कि यद्यपि यह हमारा जो भाव जो रूप हेतु है वह कहाँ वर्तमान हो चैत्र रूप पक्ष में रहे परंतु वह हेतु जो हमारा है जो पक्ष में वर्तमान है सा चैत्र से क्वचित सत्वेन कहीं न कहीं सत्य है इति अपने तुम न सक्य उन्हें वह उसकी सत्यता को हटा नहीं सकता एन असिद्धा स्वरूपा सिद्ध दोषा सात इसलिए हमारा स्वरूप सिद्ध दोष नहीं है पूर्व पक्षी कह रहा था न चैत्र से क्वचित सत्वीन मैंने चैत्र कहीं न कहीं है इतने मात्र कहने से जो हमारा गृह भाव सक्या मन गृह में अभाव को हटाया जा सकता है ना अपने तुम सत्या हटा नहीं सकती है मन गृह में अभाव नहीं है कहीं ना कहीं घर में भी है तो इसका बता क्या वह चैत्र में भाव सत्य रूप हेतु नहीं रहेगा तो कौन दोष आ जाएगा हमारा उसको लेकर यह तो असिद्धा इतना वाच्यम इतना आशंका हुआ गृहाभावा अपन तुम न कुतः तो असिद्धा भाव क्योंकि घर में क्या है गृह का अभाव असिद्ध है अतः बहिर्भावे न हेतु सत मन बहिर के अस्तित्व में हेतु नहीं होता पर ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहाँ गृह सत्व रूप हेतु बैठा है इसलिए क्या नहीं हुआ स्वरूपा सिद्धि दोष नहीं हुआ और पक्ष व्याप्य वृतित्व पक्ष धर्मता व्याप्य पर्वतादि वृतित्व ये हो गया पक्ष धर्मता कौन हो गया पक्ष में हेतु का रहना यही हुआ पक्ष धर्मता पक्ष में के हेतु को न रहना ये क्या हो जाता हमारा स्वरूपा सिद्धि इसीलिए का चैत्र रूप जो पक्ष है उसमें वर्तमान जो भाव रूप जो हेतु है वह चैत्र के कहीं न कहीं अस्तित्व को सिद्ध करने में समर्थ हटाया नहीं जा सकता न अपने तुम सक्य है जिस कारण यथा मन ये न असिद्धा माने यथो असिद्धा माने असिद्धा माना स्वरूपा सिद्धा सन क्रियाभाव बहिर्भाव हेतु सत मान बहिर्भाव मान बहिर्भाव के अस्तित्व में साधक में भाव हेतु नहीं होता परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहाँ हेतु पक्ष में वर्तमान है एतावता स्वरूपा सिद्धि नहीं है है ही नहीं स्वरूपा सिद्धि तो उसने कहा ऐसा आप दोबारा फिर आशंका कर रहे हैं कि साध्या प्रसिद्धि को बोलते हैं विशेषणा प्रसिद्धि साध्या प्रसिद्धि क्या बोलते हैं क्योंकि पक्ष में साध्य विशेषण होता है जैसे पर्वतो बन्हीमान में साध्य कौन है और किसमें विशेषण है धूम में वाह पर्वतो बन्हीमान बोल रहे हैं बन्नी कहाँ रहता है तो पर्वत में विशेषण है पर्वत हो गया विशेष बन्नी हो गया विशेषण जो वान मान घटाश्रया पटाश्रया के पहले सब क्या कहलाते हैं विशेषण तो बन्नी मान में मान के पहले कौन है ये हो गया विशेषण किसमें विशेषण है पर्वत में यदि साध्य विशेषणा प्रसिद्धि माने साध्या प्रसिद्धि यदि संसार में साध्य ही नहीं तो सिद्ध कर सकते हो तुम वही कहने जा रहा है दूसरा पक्ष उठा रहा है न च गृहाभावे न मान सद रूप मान जो गृहाभाव जो हेतु है वह सत्वम अप अप अप अप अप अप हुयते हुयते माने अपने तुम अपन अपनीयते माने कर्मवाच का प्रयोग कर दिया यहाँ पर अपनीयते माने कोई का क्रिया भाव के द्वारा सत्व रूप हेतु की सिद्धि नहीं हो पाएगी जो बहिर सत्तुम बहिरस्ति इत्याकार जो साध का एक दे जो सद्भाव है वह भाव रूप हेतु के द्वारा हटाया नहीं जा सकता और सिद्ध किया जा सकता है वो तो ये न यदि हटाया ये न सत्यमेव अनुष्पन्नम यदि सत्य ही नहीं होता तो स्वात्मान वैर सत्य होता तब वैर उसकी सिद्ध होती अतः नहीं का तस्मात वही सत्य रूप साध्य संभवात बहिर् साध्य रूप सत्व अतः न साध्या प्रसिद्धि वही एन यस्मात कारणात वही सत्व रूप साध्य है अतः सत्यमेव अनुपद्यमानम आत्मानम न बहिर अवस्थापित अतः जब सत्व ही नहीं रहेगा तो बाहर सिद्ध होगा पर ऐसी बात यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ क्या है सत्व बाहर है वह अनुपन्न नहीं है अतः या भाव जो जीवत्व सती भाव रूप जो हेतु है अपने साध को सिद्ध कर देगा यहाँ साध्या प्रसिद्धि रूप दोष नहीं है वही का इति न च क्रियाभावेन उपा सत्वम अपहूयते अप, अप, अपनीयत न अपनीयते येन यस्मात् कारणात् सत्वम अनुपपद्य मन सत्व ही नहीं जाएगा तो सत्व की सिद्धि होगी उसी कह सत्व अनुपन्न नहीं है यदि होता तो बहिर उसकी स्थिति नहीं कर पाते वह अनुपद्यमान नहीं है अतः आत्मान न बहिर अवस्थापित परंतु वह उपपन्न मान है अतः बहिर अस्तित्व का सिद्ध कर सकता है तथा आप घटा रहा देखो पूरे का पक्ष कर तथा चैत्र से गृह सत्वीन सत्व मात्र विरुद्ध थे मन यह कहता घर में नहीं है ये कहाँ है गृह में घर में सत्व का विरोधी है इस बहिर सत्व का विरोधी नहीं ये कहता वही कहने पूरा फलतार तो लिखने जा रहे हैं कि वहाँ पर विरोधाभावात अर्थात गृहा सत्व का और सत्व का विरोध नहीं है विरोध कहाँ होता हम कहते घर में है और कहता घर में नहीं तो विरोध होता ये तो कह रहा घर में नहीं है तो अन्यत्र है अन्य के साथ विरोध वही कह रहा चैत्र से गृहा सत्वीन मान चैत्र घर में नहीं है एतावता सत्व मात्र विरुद्ध सत्व मात्र सिद्ध करते तब विरुद्ध होता हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं बहिर सत्व सिद्ध कर न तो हम सत्यमात्र सिद्ध कर रहे हैं न गृह सत्व सिद्ध कर रहे हैं कि घर में है हम तो कह रहे हैं वो है हम ये नहीं कह रहे हैं कि है हम क्या कह रहे हैं बाहर है तो हाँ कहते हैं झगड़ा हो जाता घर में नहीं दिख रहा कैसे आप है कह रहे हो इसलिए हम क्या सिद्ध कह रहे हैं बाहर है न तो हम केवल सिद्ध कह रहे हैं कि है न हम सिद्ध कर रहे हैं घर में है अभी तो हम क्या सिद्ध कर रहे हैं बाहर है विशेष सत्व की सिद्धि कर रहे हैं सामान्य सत्व की भी सिद्धि नहीं कर रहे हैं घर में भी सत्व की सिद्धि नहीं कर रहे यदि करते तब विरोध होता हम तो कह रहे हैं घर में नहीं है बता बार है क्या है इसलिए उसका सत्व और असत्व का विरोध नहीं है कि उन दोनों के स्थान भिन्न भिन्न है सत्व का स्थान बाहर है और असत्व का स्थान घर है विरोध कहाँ होता है एक देश में रहने वाली वस्तुओं के साथ वही कहने जा रहा है इति तथा चैत्र तथा मैंने जितनी वो प्रतिज्ञा की थी उसका फलितार्थ लिखा रहे हैं चैत्र क्रिया सत्व सत्वमात्र विरुद्धते गृह सत्व विरुद्धते व न तावत यत्र क्वचन सत्व से अस्थि विरोधा मैंने हमने कहा कहीं पर सत्व है उसके साथ मन उस सत्व का असत्वीन साकम नास्ति विरोधा उस सत्व का असत गृहा सत्व के साथ विरोध नहीं हमने तो कहा कहीं पर है सत्व बाहर है हम नहीं कह रहे हैं कि है कोई कह रहे यहाँ दिखा नहीं रहा विरोध हो जाएगा हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर में है तो गृह सत्व के द्वारा विरोध होगा हम कह रहे हैं वो बाहर देश में है कहाँ है वही कहने जा रहा है न तावत यत्र क्वचन सत्वमस्ति ये हम नहीं कहते माने तावत यत्र क्वचन मन किसी देश में सत्वम अस्य अस्ति विरोधा गृहसत्वेन अस्य सत्य विरोधो अस्ति गृहसत्व के साथ इस सत्व का विरोध नहीं है क्यों भिन्न विषयत्वाद गृहसत्व का विषय कौन है घर और बहिर्सत्व का विषय कौन है गृह रूप देश को छोड़ करके अन्य देश विरोध कहाँ होता है एक देश में दो प्रकार का विरोध होता है एक अवस्थान रूप विरोध सहानवस्थान रूप विरोध एक होता है बद्ध घातक रूप विरोध जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ रह सकते हैं नहीं रह सकते यदि प्रकाश है तो अंधकार नहीं अंधकार है तो प्रकाश नहीं है और सिंह और गाय एक साथ रहेंगे खा जाएगा तो तुरंत हाँ कहाँ रह सकते हैं पहले होता था रहते। कब रहते थे मतलब अभी अभी तो नहीं रहते अरे कब रहते थे वह जो भूमि थी जो महर्षि की जो तप था वह वहाँ प्रतिबंधक था जिन्हें खा नहीं पा रहा था जिसे यहाँ पर सब सामग्री जब डालते हैं नगर निगम वाला प्रतिबंधक मकान नहीं बनने देता है बन जाए नहीं बन जाए न रोके तो उसी प्रकार महात्मा की तपह के कारण सर्व अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वभूतेभ्या अभयम यदि अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए तो कोई भूत आदमी को खा नहीं सकता इसलिए बड़े बड़े महात्माओं के बारे में सुना जाता है कि सिंह भी आता था उनको कुछ नहीं करता था आदमी खाने को दौड़ता किससे है जिससे आपको भय है तुमसे कुछ राहुल गांधी कुछ को कुछ बोलेगा क्यों नहीं बोलेगा भय ही नहीं है परंतु तो लोगों को संदेह तो हो ही जाता है कि चोर चोर कह रहा है क्या हो जाता है संदेह हो जाता है बीच में संदेह कह दिया कि अपने तरह से बमबारी करवा दिया है रियासत तुम यहाँ तक इति अतः विरोध कोई नहीं दोनों का भिन्न विषय है एक का विषय बाहर प्रदेश है बाह्य प्रदेश है और एक का गृह है तो गृह वाले में असतत्व है और बाह्य प्रदेश में क्या सत्व है इधर दोनों का समान विषयत्वाभावात ना विरोधा आगे लिखने जा रहे हैं देश सामान्य न गृह विशेषाक्षेप कोपी पाक्षिका समा इसने कहा भाई जब देह सामान्य कहोगे उस सामान अंतर्गत का ग्रह भी आ जाएगा भाई आपने कहा नहीं एक नियम है ना विशेषा भाव कूटस्य सामान्य भाव हेतुताया प्रसिद्ध नील घटो नास्ती पीत घटो नास्ती रक्त घटो नास्ती घटो नास्ती यह हो गया तो ये कहना चाह रहा है सामान्य के अंतर्गत तो विशेष आता ही है जब हम कहें घटो नास्ती इतना होता तो नील घटो भी नास्ती तो सामान्य के अंतर क्या गया विशेष आ गया इसलिए विरोध दिखाने जा रहा देश सामान्य जैसे देश सामान्य के अंतर्गत गृह रूप विशेष देश का भी तो आक्षेप हो सकता है यदि उसका आक्षेप होगा तो विरोध हो गया तो हेतु कहेगा गृहसत्वम असाध कहेगा गृहसत्वम वही कहने जा रहा है देश सामान्य मान सामान्य अंतर्गत विरोध दिखाने जा रहा है यद्यपि उन दोनों का विरोध नहीं था अब उन्होंने कहा दोनों का विरोध हो जाएगा क्योंकि आपने यही तो आप वाक्य ने कहा था कि जीवी चैत्रा क्वचित अस्थि माने जीता है चैत्र कहीं न कहीं है तो कहीं ना कहीं ये देश सामान्य हुआ उस देश सामान्य अंतर्गत कौन होगा घर भी हो सकता है वही कहने विरोध हो जाए अतः न सत्वाश्रयी न जो आक्षिप्यमाण हुआ सत्व का आश्रयी भूत देश सामान्य उस सामान्य अंतर्गत गह रूप देश विशेष का भी आक्षेप हो जाएगा बता पक्ष में विरोध प्राप्त होगा एकत्र सत्वा सत्व नहीं रह सकता है अरा विरोधो अस्ति वही कह रहा देश सामान्य नगरीय विशेषाक्षेप को एक पक्ष में तो विरोध है प्राक्षिका समान समान तया विरोधा इति चेत न प्रमाण विनिश्चित क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देख लिया है घर में नहीं है तो जब प्रमाणांतर से गृह में असत्य सिद्ध है तो बाकी क्या सिद्ध कर देगा जब आपने आंख से देख लिया कोठरी में आदमी नहीं है तो ये कहते हैं कि है तो मान लोगे वही कहने जा रहा है प्रमाण विनिश्चित से जो प्रमाण के द्वारा पहले निर्णीत हो गया प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो निर्णीत है प्रमाण विनिश्चित से गृह सत्व से पाक्षिकतया जो संदेह हो जाएगा सांसिक गृह सत्वी न प्रतिक्षेपा योगात गृहसत्व उस सत्व रूपेण उस देश विशेष का आक्षेप आप कर नहीं सकते हैं यद्यपि कसंचित विरोध का उत्पादन कर सकते हो परंतु गृह सत्व रूप से वह जब प्रमित है वह घर में प्रमित नहीं हो सकता किन रूपेण गृह में है यह प्रमा का विषय संभव नहीं है अतः वही कहने जा रहा है इति गृह इति प्रमाण भी निश्चित से गृहसत्व से पाक्षिकतया वो सांसायिक न सांसिक होने कारण गृह सत्व प्रतिक्षेपा योगा गृह सत्व का आक्षेप देश विशेष के द्वारा गृह रूप देश का आक्षेप नहीं हो सकता है तस्मात विरोधो नास्ती अब पुनः कहने जा रहा ननु प्रमाण विनिश्चित गृहाभावः पाक्षिकम् अस्य गृहसत्वम प्रतिपक्षन सत्वमति प्रक्षेपित दो पक्ष होता ना यश साध्याभाव साधकम हेतुअंतरम ता सत प्रतिपक्षा तो इन्होंने कहा कि आपने गृह सत्व के द्वारा प्रमाण विनिश्चित जो हेतु गर्भित जो आपका उसका ये कहने जा रहा है कि आपने पाक्षिकतया न एक पक्ष में तो आएगा संदिग्ध तो पैदा कर सकता है उस पर यह निश्चित करने जा रहा है संदिग्ध होने से संदिग्ध मैंने अनिश्चित ही न अनिश्चित हो जाएगा इसलिए प्रतिपक्ष युग निश्चित में ही प्रतिपक्ष कहलाता है अनिश्चित प्रतिपक्ष नहीं कहलाता है इसलिए अब दूसरा एक और हेतु देने जा रहा नापी प्रमाण विनिश्चिता मैंने प्रमितम गृह सत्वम गृह घर में नहीं निश्चित हो चुका है अतः गृह सत्व गृह सत्व आक्षेप नहीं कर सकता सत्व मात्र आक्षेप करेगा गृह सत्व का आक्षेप मन गृह घर में है इस बात का आक्षेप नहीं कर सकता अभी तो गृह सत्व जो ज्ञान है वह बहिर सत्व मात्र का प्रतिपादन करेगा इस आशंका को हटाते हुए लिखने जा नापी प्रमाण निश्चित मान प्रमाणेन निर्णीतो का भाव अस्य कस्य चैत्रस्य मैंने लिखा ना पाक्षिकम अस्य अस्य कस्य चैत्रस्य चैत्र का क्या है यहाँ लिखा प्रमाण विनिश्चिता मान प्रमाणेन निर्णीतो गृहाभावा कस्य अस्य चैत्रस्य इस चैत्र का प्रमाण के द्वारा निर्णीत क्या हो चुका है कि घर में अभाव है यह निश्चित हो गया एक पक्ष पाक्षिकम गृहसत्वम निधान न करे पाक्षिकम है प्रथमांत तो गृह सत्वम प्रथमांत पाक्षिकम गृह सत्वम प्रतिक्षपन माने माने प्रति निराकुरवन वही कहना प्रतिक्षपन प्रतिरुंधान मन निषेध करते हुए अक्षिपन मैंने लाते हुए प्रतिक्षपन मैंने उसका निरुद्ध करते हुए मैंने रोकते हुए माने प्रतिक्षपन सत्वमपि मन वह सत्व का क्या करेगा सन सत्वम प्रक्षेपित प्रक्षेपितुम तुम अर्ती मन सत्व मात्र का ये क्या कर देगा घर में सत्व मात्र का निराकरण कर देगा एतावता कहाँ मिलेगा तब वो बाहर रहेगा जब प्रमाण ने निश्चय कर दिया कि घर में नहीं है तावता घर में चैत्र की सत्व मात्र सामान्य का अभाव है उसका क्या करने जा रहे हैं प्रतिक्षेप तुम माने निराकर तुम प्रतिक्षेप तुम माने निराकर तुम पहले वही कहना सब तुम अर्ति तथा च गृह सत्व संसारिकव विपने तुम दूरी कर तुम अर्ति इति युक्तम इसलिए जा गृह सत्व जो गृह सत्व व सांसायिक है उसका बहार है इस बात का निराकरण नहीं कर सकता है विपनीत माने होता निराकर तुम न अर्हत इति युक्तम ये हो नहीं सकता है क्योंकि प्रमाण से निश्चित है एतावता उसका निराकरण नहीं करेगा उसी का विशेष विवरण लिखने जा रहे हैं गृहावच्छिन्नेन न मन गृहावत देशावच्छेदेन किसका भाव है चैत्राभाव चैत्राभावेन गृहसत्व विरुद्धत्व गृहसत्व विरोध है जैसे न क्या है कपि का संयोग है तो न कपि का संयोग का भाव नहीं रह सकता मैंने एक जगह दोनों का वृक्ष में तो रह रहा है दोनों परंतु मूलावच्छेदेन कभी संयोगा भाव है और शाखा शाखावच्छेदेन कभी संयोग है मतलब पर एक देश में दोनों नहीं है संयोग तो अभ्यास है हाँ तो वही तो उसका अभाव मिल जाएगा तो बताए थे ना तुम तो पढ़े हो अब प्रमा के लक्षण में चला गया तो क्या हुआ था तो इसलिए क्या कहा था यद अवच्छेदेन तदवत्व भाषते तदवच्छेदेन तदभावत्व तो मूलावच्छेदेन किम भाषते वन संयोगा भावो भाषते अतः तदेव कब संयोग होता तब क्या कहलाता तब तो अप्रमा कहलाता तो बस हो गया तब क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं हाँ बताओ वहाँ तो नहीं वहाँ तो नहीं उसी प्रकार तो यहाँ भी है ये देशा इदम रजतम में इदम हम्म। रजतम में घट जाएगा और कभी का जो संयोग है वो तो अव्याप्य वृत्ति है तो हम्म। एक कभी संयोग बैठा रहेगा तो कभी का संयोग है और वहीं पे कभी संयोग का अभाव गई है कहाँ पर यहीं पर कि यहाँ पर इस मोबाइल की यहाँ पर ये पर्यंक में है कि इसी देश में है गुरु जी मूला अच्छे देने तो कभी का संयोग है और वहीं अभाव भी मिल जाएगा वहीं पर अच्छे देने क्योंकि पूरे में तो नहीं बैठेगा ना इतने तो हम्म, हम्म, हम्म। तात्पर्य वही मूल मतलब जहाँ है यही मूला अवयव अच्छेदन कर दो तुमको ज्यादा दिक्कत है तो गुरु जी तो शाखा अच्छे देने भी तो नहीं मिलेगा कभी संयोग क्यों शाखा उच्छेद में शाखा अवच्छेदन है शाखा का अवयव मतलब में है कि नहीं है अब इसका कहना पूरी शाखा में नहीं बैठा है तो तात्पर्य वक्ता का यही है कि शाखा बच्चे दे तो अपने आप समझिए ना अरे अब अब ये तो हम लोगों के लिए छोड़ा गया ना थोड़ा हम लोग क्या पढ़ाएंगे फिर से चलो <laughs> इति गृहावच्छिन्न चैत्राभावे न गृह सत्वम विरुद्धत्वाद माने यदि गृहावच्छेदन क्षेत्र का भाव है यदि वहाँ गृह सत्व होता तो विरोध होता यदि मूलावच्छेदन कभी संयोग अभाव है यदि कभी संयोग रहे तो विरोध है शाखावच्छेदन कभी संयोग है मूलावच्छेदन कभी संयोग कोई विरोध नहीं है विरुद्धत्वात प्रतिक्षिप्यते न तो सत्व मात्रम तस्य तदा अवदीशन यहाँ तो विरोध होता तत्व आक्षेप कर सकते थे परंतु यहाँ सिद्ध कर रहा सत्व मात्रम तत्र तस्य औदासीन्यात उसमें गृहाभाव सत्व का उसका विरोध नहीं हो उदासीन है गृहाभाव किसको निषेध करेगा गृह सत्व का विरोध करेगा सत्व मात्र का निषेध नहीं करे कहीं रहे तो उसे क्या दिक्कत है कहीं रहे जैसे वृक्ष तब कब संयोग अभाव किसको रोकेगा मूलावच्छेद न कभी संयोग के अभाव किसको रोकेगा कभी संयोग का रोकेगा अन्यत्र रहे तो कहाँ विरोध है उसका हाँ। वही तो कहने जा रहा है सत्व मात्रम तस्य औदासीन्यम हाँ। सत्व मात्र में उसकी क्या है प्रक्षे में कोई विरोध नहीं है औदासीन्यता है उसका साथ कोई अर्थात अनुमान तस्मात गृह सत्व का केवल विरोध कर रहे हैं गृह भाव क्या कर रहे गृह सत्व का विरोध बस तस्माद सिद्धे न सिद्धेन भाव लिंग सिद्ध हो गया सतः भावो अनुमीयते माने कहेंगे चैत्र बहिर अस्ति जीव जीव जीववत्वे सती किम गृह सत्वात अहम इव के अनुमान हो जाएगा इति न प्रमाण यो हो मतलब हेतु न माने मन एतेन ये दोनों विरुद्ध समान संभावना मात्रेण विरुद्धयो विरोधाक्रांतयो प्रत्यक्ष आगम प्रमाण यो व्यवस्था अलग अलग कर दी वही कहने जा आगम ने क्या कहा जीवित देवदत्ता अस्ति घर में पूछा किसी ने दैवज्ञ ने क्या कहा अस्ति जीवितो वर्तते एक कह रहा घर में नहीं है तो विरोध अग्नि हुआ इसलिए इन दोनों विरोध के लिए किसकी आवश्यकता है हमको अर्थापत्ति प्रमाण की हम वो अनुमान से हटा दिया उसको वही कह रहा इति विरुद्ध यो हो मन विरोध आक्रांत यो हो किमस्ती प्रमाण यो मन प्रत्यक्ष आगम जो दो प्रमाण हुए प्रत्यक्ष कहता है नहीं है और आगम माने ज्योतिष कहता है तो प्रत्यक्ष आगम प्रमाण यो हो विषय व्यवस्था यहाँ मैंने व्यवस्था कर दी कि आगम कहता है बाहर है और प्रत्यक्ष कहता है घर में नहीं है दोनों का विरोध हुआ वही कहना वही कह रहा है अतः व्यवस्था यो हो मैंने आगम से विषया भई सत्वम और प्रत्यक्ष विषया गृह सत्वम इस रूप से जब व्यवस्था हो गई तो विरोधाभाव संपादनम यही विरोधाभाव संपादन किसका विषय था अर्थापत्ति का विषय था वह तो अनुमान से हमने विरोधाभाव कर दिया इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है विरोधा आपादनम आपादनम अर्थापत्तिर विषया एतेन निरस्तम क्योंकि वह तो किससे हो गया हमारा अनुमान से ही हो गया इसकी आवश्यकता नहीं है अभी और चलते हैं पहले थोड़ा यहाँ तक कर दिया गया हम्म कौन नहीं नहीं एक है अवच्छिन्न एक है अनवच्छिन्न अवच्छिन्न अनवच्छिन्न का कह रहा है विरोध नहीं है एक सर्वत्र एक एक जगह तो विरोध होगा एक सर्वत्र एक एक जगह है तो विरोध होगा वही तो कहने जा रहा है कोई बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग करने जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं हमारे अवच्छिन्ना अवच्छिन्न यो हो माने गृहावच्छिन्न कौन चीज है हमारे हाँ, असत्व है और अस्तन अवच्छिन्न गृहान अवच्छिन्न कौन है हाँ, सत्व है तो दोनों का विरोध होगा माने मूला अवच्छिन्न कौन है मूला अवच्छिन्न संयोग का अभाव और मूला अनवच्छिन्न कौन हो गया तब संयोग तो उनका विरोध क्या विरोध होगा अविरोध वही तो कहने कितना सुंदर शब्द का प्रयोग करें अवच्छिन्न कौन हो गया गृहावच्छिन्न हुआ असत्व और गृहान अवच्छिन्न कौन हो गया सत्व मान गृहावच्छिन्न हुआ असत्व और गृह से अनवच्छिन्न हो गया सत्व उनका कोई विरोध नहीं है इसीलिए कह दिया गृहा मन अवच्छिन्ना अनवच्छिन्न यो हो गृहावच्छिन्नम असत्वम अध्यक्षम और तदनवच्छिन्नम सत्वम आगम इसलिए कोई विरोध नहीं है उदाहरण ये तो दो उदाहरण दिया एक उदाहरण दिया जीवित माला इसी प्रकार पीनो यम देवदत्ता इत्यादि जो उदाहरणांतर है हम्म, मन उदाहरणांतराणी अर्थापत्ति उदाहरणांतराणी अतः अर्थापत्तिर एवमेव अनुमाने अंतर भाव जितने अर्थापत्ति के उदाहरण है सबका अनुमान में अंतर्भाव करना लेना चाहिए तस्मात में क्या है अर्थापत्ति प्रमाण वो कहते हैं अर्थापयामी ऐसा अन्य व्यवसाय विरोध होगा इसलिए मानना अंत में कोई आप वेदांतियों को तो कोई आग्रह ज्यादा नहीं है मीमांसक का ज्यादा आग्रह है हाँ इसलिए कहीं पर भगवत पाद चार चीजों को लिखते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमयी ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं बस प्रत्यक्ष अनुमान आगमयी ही ऐसा शब्द का प्रयोग कर देते हैं शंकर भाष में इसलिए उनको प्रमाण निरूपण में विशेष कोई रुचि नहीं है केवल ब्रह्म सिद्धि में ही रुचि माने प्रमेय पदार्थ में प्रमाण तो किसी चाहे चार मानो चाहे छह मानो हमसे उसे कोई दिक्कत नहीं है हम्म। तो यहाँ कहना उदाहरणांतराणी चार्था पत्र में अनुमाने अंतर भवानी तस्माद न प्रमाणांतरम अर्थापत्ति मान अनुमान से भिन्न प्रमाणांतर अर्थापत्ति नहीं है यहाँ देवदत्त का उदाहरण नहीं है अब हाँ, नहीं है ये अब हो गया देवदत्तो नक्तम भोजी यहाँ दिया नुमान नीचे देवदत्त रात में खाता है दिवा भुंजा नती पीनत्वात क्या है मैंने देवदत्त नक्तम भोजी क्या सिद्ध करना चाह रहे थे बताओ नक्तम भोजी में नक्तम मैंने रात नक्तम तो अब हो गए नक्तम भोजी रात में खाता है हाँ। तो क्या सिद्ध हुआ नक्तम भोजी में कौन साध हुआ मतलब कि वो दिन में नहीं खाता हम्म, हम्म। तो गुरुजी पीन है मोटा है इसलिए नक्तम भोजी मतलब क्या हुआ नक्तम मन होता रात्रि और अच्छा। भोजी माने तो इसमें साध क्या हुआ इस बन निमान में साध कौन होता है तम भोजी में कौन साध हुआ भोज हुआ इन प्रत्यय छोड़ चला जाएगा क्या कहें ठीक है तो पक्ष हो गया देवदत्त नक्तम भोजित मैं नक्तम भोज साध्य हो गया और दिवा भुंजान सती पीनत्वाद ये हेतु हो गया क्या हो गया हमारा हेतु तो हो गया ऐसे इसका अंतर एवं अभावी प्रत्यक्ष में अभाव मतलब अनुपलब्धि प्रमाण एक अनुपलब्धि प्रमाण ये मानते हैं अभाव के प्रत्यक्ष के लिए क्या मानते हैं अनुपलब्धि प्रमाण मानते किसके लिए अभाव के प्रत्यक्ष के लिए उस पर नैयायिक लोगों का नियम क्या है इंद्रियण अदा एन इंद्रियण या व्यक्त गृहते तन्निष्ठा धर्मा तदभावश्चात तेन इंद्रियण गृहते नहीं आए कि लोग भी अभाव का प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष मानते हैं नहीं मानते उसी प्रकार ये कहेंगे कि अनुपलब्धि अलग प्रमाण अंतर नहीं है यही प्रत्यक्ष से ही हो जाएगा कैसे होगा तो कल उसका निरूपण वो करेंगे अनुपलब्धि तो मानते हैं अनुपलब्धि